ये अरबी कुरान हमने तुम्हारी ओर वही किया है ताकि तुम बस्तियों के केंद्र यानी मक्का शहर और उसके चारों ओर रहने वालों को सचेत कर दो और इकट्ठा होने के दिन यानी कयामत से डरा दो जिसके आने में कोई शक नहीं एक गिरोह को जन्नत में जाना है और दूसरे गिरोह को दो में अगर अल्लाह चाहता तो इन सबको एक ही समुदाय यानी उम्मत बना देता मगर वो जिसे चाहता है अपनी दयालुता में प्रवेश कराता है और जालिमों का न कोई संरक्षक है न सहायक क्या ये ऐसे नादान हैं कि इन्होंने उसे छोड़कर दूसरे संरक्षक बना रखे हैं संरक्षक तो अल्लाह ही है वही मुर्दों को जिंदा करता है और उसे हर चीज की सामर्थ्य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 और जिसे ए मोहम्मद अब तुम्हारी ओर हमने प्रकाशना यानी वही के द्वारा भेजी है और जिसका आदेश हम इब्राहिम और मूसा और ईसा को दे चुके हैं इस ताकीद के साथ कि कायम करो इस दीन यानी धर्म को और इसमें अलग अलग ना हो जाओ यही बात इन बहुदेववादियों को बहुत अप्रिय लगी है जिसकी ओर ए मोहम्मद तुम उन्हें आमंत्रण दे रहे हो अल्लाह जिसे चाहता है अपना कर लेता है और वो अपनी ओर आने का मार्ग उसी को दिखाता है जो उसकी ओर रुजू करे लोगों में जो विभेद जाहिर हुआ वो इसके बाद हुआ कि उनके पास ज्ञान आ चुका था और इस कारण हुआ कि वे परस्पर एक दूसरे पर ज्यादती करना चाहते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 दिया गया है उसी पर मजबूती से जम जाओ और इन लोगों की इच्छाओं का अनुपालन न करो और इनसे कह दो कि अल्लाह ने जो किताब भी उतारी है मैं उस पर ईमान लाया मुझे आदेश हुआ है कि मैं तुम्हारे बीच इंसाफ करूं अल्लाह ही हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी हमारे कर्म हमारे लिए हैं और तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं अल्लाह एक दिन हम सबको इकट्ठा करेगा और उसी की ओर सबको जाना है अल्लाह की पुकार को आगे बढ़कर स्वीकार कर लेने के बाद जो लोग स्वीकार करने वालों से अल्लाह के मामले में झगड़े करते हैं उनका वाद विवाद उनके रब की दृष्टि में गलत है और उन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 आकर रहेगा इसके विपरीत जो लोग ईमान ले आए हैं और जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं वे जन्नत के बागों में होंगे जो कुछ भी वे चाहेंगे अपने रब के यहाँ पाएंगे यही बड़ा अनुग्रह है यह है वो चीज जिसकी खुशखबरी अल्लाह अपने उन बंदों को देता है जिन्होंने मान लिया और अच्छे कर्म किए ए नबी इन लोगों से कह दो कि मैं इस काम पर तुमसे किसी बदले का उम्मीदवार नहीं हूं अलबत्ता समीपता का प्रेम भाव जरूर चाहता हूं जो कोई भलाई कमाएगा हम उसके लिए इस भलाई में अच्छाई की बढ़ोतरी कर देंगे यकीनन अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और गुण ग्राहक है أم يقولون افترى على الله فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وهو الذي يقبل التوبة يتجافى عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير बसीर क्या ये लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति ने अल्लाह पर झूठा आरोप घड़ लिया है अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे दिल पर ठप्पा लगा दे वो असत्य को मिटा देता है और सत्य को अपने आदेशों से सत्य कर दिखाता है वो सीनों के छिपे हुए रहस्य जानता है वही है जो अपने बंदों से तौबा कबूल करता है और बुराइयों को माफ करता है हालांकि तुम लोगों के सब कर्मों का उसे ज्ञान है वो ईमान लाने वालों और अच्छे कर्म करने वालों की दुआ को कबूल करता है और अपने अनुग्रह से उनको और ज्यादा देता है रहे इनकार करने वाले तो उनके लिए कठोर सजा है अगर अल्लाह अपने सब बंदों को खुली रोजी दे देता तो वे जमीन में सरकशी का तूफान खड़ा कर देते मगर वो एक हिसाब से जितनी चाहता है उतारता है यकीनन वो अपने बंदों की खबर रखने वाला है और उन पर निगाह रखता है